ಸಾಬ್ರ ಮತ್ತೆ ನಡುವನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಹೋತಾರ ನಾ ಮರಬಾಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ में सूती रे माता सोरा में सूती रे माता क्या बड़ी तने कद में छोटी देख नहीं कणो कद तो माँ बुलाई छोटी उन बेटा चौका उधर छोटी ही तो की माँ हाँ कुक कुक में हीरा नहीं जाएगा वन माना अरे भाणु घर घर करे मत बोलो मानो कोन भाई नहीं नहीं खावे बात नहीं नहीं बताओ बड़ा आदमी शाबाश शाबाश भाणु कोन माना ए तेरे पर अच्छा तो मैं कह दू लड़ाई शुरू अच्छा तो लड़ाई शुरू और और मैं कह दू लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद अच्छा जैसे तू कहेगा वैसे सस्ता डालो नीचे डाल दो ये लो लड़ाई शुरू लड़ाई बंद लड़ाई शुरू लड़ाई बंद सरियल दे स्वरूप ना बाल बाल गंगमोती सार आरती करो आर मंगलो हरसायो है सरजन की लाश पड़ी सर्व के पास अर्जुन को उतार मोद खोद के बगायो है बादशाह की एक चिल्ली हिल्ली मांगे फैस तिल्ली बिल्ली जो घाल पटियो दिल्ली ने पटायो है कहते कवि लच्छी राम गोर किया सिद्ध काम संग जीत शाम करो आयो है राजा साहब साने अर्जुन क्यों या भीम क्यों या नकुल क्यों या सहदेव क्यों या युधिष्ठर क्यों बोल को थांगी गंडे भी देते देना ही देखो आपने इतनी बाता नहीं फरमाती में तुम्हारा तो दुश्मन को बता हाँ, अग्रियान की थे बाता नहीं करता हमारे भाई ने मैं क्यों मार दो खैर होना जा काम तो होगा यो पधारो सीधा रू मैन मेल में बाद में चाला पहली माता जी मिली केला माता जी तो पची मिलता रही जो नहीं सर पहली माता जी मिली बाद में मेल में चाला नहीं सर पहली मेल में चाला झूठी बात नहीं अब आ मैं सोफा सब है क्या जो अब आ दूध गर्म रख हाँ दूध गर्म कर मार गिना गिना को गिना मना भी जो मैं इसी भी जीवन में रहा जीवन में सो कुछ नहीं मना की माता जी प्रणाम करो खुश रहे गोपकान आज तर मुंडो दास की बेटा झगड़ा में जीत रही हार जीत जीत धन्यवाद हो उदासी कई बात की बेटा उदासी आई है माता जी मारे हाथ तू पालू बांध के मर गए और और अर्जन सर्जन गोप जवान अगर क्षत्रिय है और असली धर्मराज के राजपूत को लड़को है तो तू मारे घर के बाहर निकल जा गोपस्वान आज मैं थारो मुंडो देख बोली चाहूँ बस बस अरे पापी दुष्टी पिस्तौला वंश कटू तू थारा ભયાને માર ઓર થારે એક બેની એક ભાણજો તે ભાણજાને તું માર ઓર માર કને મુંડો બતાવાને યો દુષ્ટી થારો ધન માતાજી ઉચવાન કે પૂછડે તું ભાણજાને મારાયો ભાઈને મારાયો આજ તું મારા ઘર કબાને મેં ભાણુને સમજાયો ભાણુ માન થારો બ્યાહ મંજોડો હાથાંગે કાંકડોડા મંજોડા जे कहने मामा जी मैं तुम्हारे जेपाड़ जूंगा जेपाड़ जूंगा क्या मैं थे देखो धड़े मैं कहीं लड्डू पैर बहुत खैर कभी बनूंगा उड़े में तू बस घर के बाहर से ले जा और गैस दो ही जाता ही देखा अच्छी बात है जाति से हिंदू क्यों नहीं सुन धरती माता की झटपट से मैं गमन किया शेर भटंडे जाके जी मैंने बाबा राम राम बाबा राम राम मैं तो राम राम कर रहा है तो आप तो मुसलमान मैं हिंदू मैं तो राम राम ही करूँ मैं क्या कह रहा हूँ राम करो राम राम करो राम करो राम करो जाओ चले जाओ चले जाओ क्या हम हाँ, मुल्ला है क्या बात करते हो हम हाँ, मुल्ला है क्या बात करते हो मैं मुस्लिम बनने के लिए आया हूँ मुस्लिम बनने का बहुत ही कठिन तरीका है मुस्लिम बनने का बहुत ही कठिन तरीका है चाहे कैसा भी मुझे बनाइए मैं नहीं बनाता मैं नहीं बनाता क्यों अरे भाई तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं हम आपको नहीं बनाता क्यों नहीं बनाते कारण क्या हमारी तबीयत का सौदा हमारी तबीयत का सौदा आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा फिर भी नहीं बनाओगे फिर ये तो ઠેઠા ભેડી સબ ઉતારો अशा असर मगरिब की नमाज पढ़ू मगरिब की नमाज पढ़ू करता हूँ मैं कबूल तीस रोजा रमजान में करता हूँ कबूल तीस रोजा रमजान कुरान की हदीस मानो खुदा की राह पे चलू कुरान की हदीस मानो खुदा की राह पे चलू नेक की और बदी होते इंसान नेक की और बदी होते इंसान में मुरीद बना दो का प्याला पिला दूं पिला दीजिए आज से तुम्हारा नाम गोगा पीर ओ सके बेस का फूटा के जान पगल लागे भी लिखे तो ली रे मारा सा बराबर है गई बराबर ओ गेला इतो बेटा जी को बेटा जी को लाड बेटा ने पटकू बेरा के पिंडे ओ कट गया तन्ने ऊपर बैठ तो तन्ने पट पटको भाटो हर फाटा पर पटको मन्ने अब जी बताओ जी रान खोदा रान उसने मार चढ़ दी उसने कहीं है हां अगर जी खेदा तो इना रान मार कोई देते नहीं तो मने कुटो मने कुटे बताओ जी अगर सारा जरूरत है की गरज है तो जार सोच लिया मैं तो कहूँ मुनुकुड़ियो मैदान माय में सोच रहा है मैदान माने मेहता जी की गरज कोने का है और बुझ मारी मैं कहीं कह लूँ वो गियो बेरा के पिन आगड़ो गियो तू जा भी गिलार गिलार मार तो कोई का पल्ला कुल ले ला रे पल्ला मारे पल्ला ले बड़ा बेटा ओ पल्ला को मालिक बैठो मैं थका पल्ला ले ली जैसी बेटा का थका हाँ, ओ, तो हाँ, चार हाँ, हाँ। <laughs> पल्ला ले लियो एक पल्लो एक हाथ जीत धरो तो वो हाथ जीत अरे भूरिया विराज ओ भूरियो मैं तू तो मैंने आपसे मुंडे मत बता दिए नहीं तो मैंने जेल लगे मेरा मैं क्या करूं जा अच्छा। तो देता है बंद मैंने तो माँ घर के बारे काट दियो मैंने ही काट दिया कोई बात नहीं आप आप आप चलो मैं तो चाल सकूंगा नहीं सी जाओ आप अब देख लियो मैं तो क्या का हो गया क्या हो गया देख लियो मुसलमान हो गया चार जाओ लेकिन आप सीधो बात से आपको पधारो पाछा और मैं एक घंटा हवा खाने आयो आपको मारो मौको मिल गो अब मैं मारी दाम पर जाऊं मैं हूं पीर आजकल परिचय दे मैं थाने जाबा जो बोले कहीं गिर लग गए गागला रे मार तो कोई आगे वो मेरी क्या जाओ देखा ई बाड़ थोड़े रे गागरा रे गागरा की बाड़ हाँ, हाँ। नहीं रे गागरा की बाड़ देखो बता दे ना रुक में यार हां बात तो कर ए जी हंसा नहीं আছো মোয়ে জানে রে হাজি নাহি জানে ও পিয়াজি মারো না বেলে যা बाद में कह दियो अच्छा अरे अरे अरे हैं हमारे गली आप तो आप नहीं चालो जरा मारे मरबो ये अच्छो हां मरबा लागा जरा मैंने आपको तरस आवे मारो बेत तो कोई नहीं दीजो मती एक घंटा मैं आपका नाऊंगा एक घंटा हाँ। बस बोलो आप जाओ कोई नहीं मती ना जिस दिन कोई ने कह दिया तो आपने शीर खत्म है जाओ जाओ ओके ही बिगड़ गई अरे राम रे खाइयो एक लाइक खाई के हां अरे साजन साजन हां अरे मैं तेरे पुकारू रे मारे सगन सबकी सगन ये राम कटे बा साजन को ना नेता ही मारा सोगड़ा पानी का ढोगा हे भगवान आज रंडम बिगड़ी है देखो कहीं पता बताओ मारो बेटा तो कुल के दाग लाग को चलो चलो तो सही जमाना बिगड़ हताई बिगड़ गई अब गुरुद्वारा Yes, में जी मारे आज व्रत है देखो हल करा जी दो सुनो सुनो महाराज करवा चौथ को व्रत है मारे करवा चौथ को व्रत है आज अरे ढो ये ढो पुलाव आज चौथ थोड़ी आज तो पंद्रह है आज तो ए राबड़ा आज तो कम है हाँ। मैं तो नहीं भाई पंद्रह आज मौस है तो अम्मा जो तेरे पंद्रह सौ गरीब है नहीं एक एक तो दो तीन चार पांच हैं हाथ आठ नमिंदर से सब तो अम्मा को पंद्रह सौ यार का लेकर नोट तो चलो बीननी सच सच बता बेटा एक काजल टी की कोई परख है तू मैं मुक्का मार दूंगा कहीं मार दे कहीं मारा सोरा ने कहीं कह रहे तू माल जानी ओ काजल क्या मैं जो कहता तो कादिल गांजे को गांजा डब्बे में उतार बंद कर बस सही बता हाँ? अलकारा जी आप बात मार पर्सन को नहीं देख लीजिए मैं थोड़ी ठोक दूंगी मारो ठोक भाई बता ओ रात क्या आज यो तो ठग लाग सही बता सही बता अरे सही बता रे ಆಟಿವ ಆ ದಿನ ದಿನ ಗುರು ಬಿಗಡಿಸ್ಬೋ ಹಾ ಆ ರಾನ್ ಸುಪ್ನಿ ಬಿಗಡಿ ಸುಪ್ನೂರ ಅರೆ ಮಾಲ್ आ कुट मत मैंने पूछ बाजी नहीं बता दे रान अरे करे काया हां बीन ने गुरु बिगाड़ी मैं बिगाड़ी काया था के ए मानता मन काय बात है काय है कूटो मत मिनका बनावने बोदा खपावने कसम काटी रान माटी बुंदी जाल दे को थारी जाल हां काको बैठो जी आप हां सुनो अलकारा राजी काई केरी है बोदा खपावनी काई केरी है हां बुजी आज झूठी कोनी હે કોઈ બેઠો છો એની લે લ્યો હે રાડડા કોણ બેઠો છો હવે આ બત્તાની પાપડા ફોડ ફોડ છોડ ભીમ કોઈ નામ લે તેરે કઈ લુકે રે બાબા अच्छा बताओ क्या तुम्हारा बता नहीं मार देखो हसू मैं तो इशारा करूँ ना तीन ताली तीन ताली या चार ताली हाँ नहीं बताओ जरा बता दे आर पास तो चाहिए जी बच्चे जाओ बुझी मैं नाल में बैठा बुझियो तो नहीं बैठो गावाला नाल कमान मन खान फाटो पटक दीजो આપણે આપણે ભાટો પડતા નિશ્ચય વાણી तो વાદો કિરોડ નહીં જવા तो ભીડ તું બસીર ખાલ મર જાય જવા तो, तो, तो ये लाश श्रम आनी चाहिए देखो कहा तो दी ओके मैं हाँ। एक बजे आ जाऊं क्योंकि दो ही बजपान आएगी खेला मोटियाना का काई भी सुन मैंने हाँ अब के किवाई नहीं बिजी हो राजा साहब देखो घड़ी बंद हो गई जी आज वाली मिस्त्री भेजो साहब मैं चालू करूं बुझ बुझ बुझ अरे अरे भाई वो है अरे भाई कौन सवाल अरे मुकुल भी मंजूर है घास पात सब सुनो बेटा सब और मैं रोटी नहीं खाई तू नहीं आया रोटी पाँच सात खावे रोटी नहीं खाई बोझी सिर्फ काय करे सुबह उठता अंदर अंदर अंदर से एक रोटी दूध में चूर खा ले और बोझी थारे बिना टुकड़ा ही नहीं मिले भाई कहीं आप बता आप बता रहा हूँ तो कटो आने बेटा आओ मैं नहीं बोलता बेटा और अबू जी पावड़ा फोड़ना के लगाओ बेन नहीं समझा बेनरा हाँ, ओ बेनमनी पाँच थाके मुंडा के पावड़ी ओ थारा मुंडा के पंदो बेटी कहीं को ए मैं रुका को नहीं जेब को रात को जन्म लियो बचे ए दियो ए नोमिना पेट में ठिल जा एर खुद आलम में सुता एरा ने सुख में सुलाया एर दूध पिलाया घने खाना फुलाया अब घर में चोर चोरी के बारे बोले साहब तब ओ दुआई आप करने हैं मैं खिलाया खाने क्यों एक नवले को खूब नावला लाया उसमें बहुत फुलाया बस सारा मारा शीर खत्म है क्यों मैं क्यों नहीं मारी बात को नहीं कोई दूसरा थोड़ी की तो मैं कहूँ कि आज मारी माँ को बसंत की क्यों किया देख लो देख लो सारा मारा शीर खत्म ए ಸರಿಯಲಿದೆ ನಾ तो जा रही हूँ हाँ, हमारी सोगन आपकी सोगन राजा साहब आप जावा को नाम ले तुम्हारे कलेजा में तीर सुरागे था तो अब छाती के मायने थर क्यों बह जावे तीर जी अब छाती के मायने मारे बह जावे तीर जी उतरा पानी नाच दे कोई नरा कहा ਕਿਸਮਤ ਕਲਮ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਓਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਲਿਖਦੀ ਨੀ ਕਿਸਮਤ ਕਲਮ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਬੇ ਹਾਥਾਂ ਲਿਵੀ